जय सुज्ञान रवि भवनि सिनासा वचन किरण कमल विकासा कि मोह मम तानियराये तानराय यहसराम स्नेह बडा विषये साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग बेद बखाने राम सरेह सरस मन जासो साधु सभा सो जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है आनंदित करती है क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई लौकिक मोह ममता के कारण नहीं जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता विशेष साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है ओम सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानो करण धार बेनु जिमि जल जानो मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए रामघाट सब लोग नहाए सकल शोक संग कुल नर नारे शोबासर बेऊबेनु बारे पशु खग मृगन किन यहारो प्रिय परिजन कर कौन विचारू श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे वह दिन बिना ही जल के बीत गया भोजन की बात तो दूर रही किसी ने जल तक नहीं पिया पशु पक्षी और हरिणों तक ने कुछ आहार नहीं किया तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए दो समाज ने मेरा जो रघुराज नहा प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृषगात निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे सबके मन में उदास और शरीर दुबले हैं जे जसूर दशरथपुरवासी जे नगर नगरनि हंस पुरोधा जनकपुरोधा जगमगु पर मारथ शोधा लगे कहन उप देशयने का सहित धर्म नय निरति विवेका कौशिक कहे कहे कथा सब सभा कुबारी जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया तब रघुनाथ कौशिक ही कहे वो नाथ काले जल बिनु सब रहे वो मुनि कह उचित कहत रघुराए गयो हर ढाई ऋषि रुख लखी कह तरहु तिराजो निहाओ चेत नहीं असन अनाजो कहा भूप भल सब ही सुहाना पाए रजायसो चले नहाना तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे अब कुछ आहार करना चाहिए विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं ढाई पहर दिन आज भी बीत गया विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा सब आज्ञा पाकर नहाने चले दही अवसर फल फूल दल मूल कप प्रकार लैयाए चर विपुल भरी भरी का भार उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि महंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए